और उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह ताला की रज़ा की तलाश में और अपने दिलों में पुख्तगी पैदा करने के लिए खर्च करते हैं उनकी मिसाल एक ऐसे बाघ की मिसाल की तरह है जो किसी ऊंची जगह पर हो उसे ज़ोर की बारिश पहुंचे तो वो अपना फल दो गुना लाए फिर अगर उसे ज़ोर की बारिश ना भी पहुंचे तो कुछ शबनम ही काफ़ी है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उसको खूब देखने वाला है